जय राम भवतापभया कुल भवतापभयाकुलपाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मा पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महा महिभूरि रुजा रजनी चरविंद पतंग रहे सर पावकते ज प्रचंड दहे हे राम हे रमारमण लक्ष्मीकांत हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो आवागमन के भय से व्याकुल उस सेवक की रक्षा कीजिए हे अवधपति हे देवताओं के स्वामी हे रमापति हे विभो मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए हे दस सिर और बीस भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापन संगवरम मदमोहमहा रजनी तम पुञ्ज दिवा करते जयनी मनजा किरातनि किए कि निगलोगोग सरे नहिए हतिनाथ यनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है हे नाथ हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए बहुरोगव्यगणीलो गहये भवतं धृनिरादरके फलये परे नरते पदपङ्कजप्रे

लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं नहिरागन भन मान मदा तिन्हके समवय भववा विपदा यही ते तब सेवक हो तमुदा मुनि त्यागत जो घबरो सदा कर प्रेम ने मलिए पद पंकज से वत शुद्ध समान सममान निरादर आदर हे सब संत सुखी विचरंत महीम उनमें न राग आसक्ति है न लोभ न मान है न मद उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी में विचरते हैं मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर रघुवीर धीर यजे तब नाम जपा मिन मामि हरी कृपा अवरोगमहागदमानयरी गुणशीलकृपा परमायतनम् प्रणमामिनिरं करषीरमणं रघुनन्दनिकन्दयद्वन्दनं विलो कय दीन जनम हे मुनियों के मनरूपी कमल के भ्रमर हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर मैं आपको भजता हूँ आपकी शरण ग्रहण करता हूँ हे हरि आपका नाम जपता हूँ आपको नमस्कार करता हूँ आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं आप लक्ष्मीपति हैं मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ हे रघुनंदन आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन इस दिन जन की ओर भी दृष्टि डालिए बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरङ्गम् पद सरोज अनपायणी भगति सदा सत्सङ्गम् राम गुण हरसि गये कैलास तब प्रभु कपिन दिवाये सब विधि सुख प्रदवास मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों में अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो हे लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यही दीजिए श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे ढिलवाए